इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे लाख जतन तुम कर हारे अहले हक को मिटाने के सब बेकार गए हर बे सच्चाई को दबाने के कौम ने चेहरे देख लिए अपने और बेगाने के दिल वालों ने खिदमत से जीते दिल है जमाने के मुश्किल में हर आफत में हर सैलाब की हालत में कहत के जैसे मुसीबत में जल्जलों हर सूरत में कौम के गारों को रोक सको तो रोक लो मिल्लत के गमखारों को रोक सको तो रोक लो कौम के गारों को रोक सको तो रोक लो मिल्लत के गमखारों को रोक सको तो रोक लो फिक्रे रोजी से रंजूर इफलासो गुर्बत से चूर जबरो जोर की चक्की में पिस्ता था हर दिन मजदूर ये सरमाया दारों के सामने था कितना मजबूर खुशहाली के काबलिए कर बैठा आंखें बेनूर अब मजदूर है जाग उठा बनकर जुर्रत है उभरा सच्चे दिलदारों को रोक सको तो रोक लो इन सच्चे दिलदारों को रोक सको तो रोक लो मिल्लत के गम खारों को रोक सको तो रोक लो तुमने कैश बहुत कर ली लाचारों की लाचारी आखिरकार गुलामों से हार चुकी अब सरदारी सीनों में है जाग उठी इज्जत गैरत खुददारी मिल्ली ने सिखला दी है बेबस को खुद मुख्तारी अब ये चलने नोट नहीं नोटों से अब वोट नहीं सच की जगह अब खोट नहीं नहीं फिर से खानी चोट नहीं रजूरो खुदारों को रोक सको तो रोक लो रजूरो खुदारों को रोक सको तो रोक लो मिल्लत के गमखारों को रोक सको तो रोक लो मिली मुस्लिम लीग ने है मिल्लत को राह दिखला दी पाकिस्तान की शहरग है हाँ कश्मीर की ये वादी जाबिर का बिज दुश्मन की देखेंगे अब बर्बादी इंशा अल्लाह दूर नहीं अब कश्मीर की आजादी हो रही रुख दरियाओं के उन मखमूर हवाओं के काकर गीत वफाओं के उन आजाद फजाओ के मुल्क पे जान निसारों को रोक सको तो रोक लो मुल्क पे जान निसारों को रोक सको तो रोक लो मिल्लत के गम खारों को रोक सको तो रोक लो हम खाबे इकबाल की है साबित और अमली ताबीर दिल में बसाए रखते हैं जज्बा कायद की तासीर पाक वतन इस दुनिया में पाक मदीने की तस्वीर पाकिस्तान का नजरिया पाकिस्तान की है तकदीर नजरिया है रखना याद दीन मोहम्मद है है जिंदाबाद वतन के पहरेदारों को रोक सको तो रोक लो वतन के पहरेदारों को रोक सको तो रोक लो कौन के खिदमतगारों को रोक सको तो रोक लो मिल्लत के गमखारों को रोक सको तो रोक लो रोक सको तो रोक लो